नहीं संगीता जमीन पर बेसुध होकर पड़ी थी वो खुद को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी विक्रांत उसे देखकर अवाक रह गया वो तेजी से भागता हुआ बुक स्टोर के पास पहुंचा वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुक स्टोर के भीतर से सफेद रंग का धुआं आता नजर आ रहा था धुएं के बीच में ही उसने देखा कि जतिन किसी की टांग पकड़कर बाहर खींचते हुए लेकर आ रहा है बाद में पता चला कि वो श्रेयस राव की टांग पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ रहा था इस वक्त जतिन ने अपने नाक को रुमाल से ढक रखा था विक्रांत को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि अंदर बुक स्टोर के भीतर से कोई जहरीली गैस निकल रही है और इसी गैस की वजह से संगीता बेहोश हो गई है श्रेष राव की भी उम्र तकरीबन पैंतालीस साल से ऊपर ही है सो उसे भी अंदर सांस लेने में तकलीफ हुई होगी और वो भी बेहोश हो गया है यहाँ तक कि जतिन बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर बाहर ला रहा था उसने अपनी नाक बंद की हुई थी लेकिन बाहर आते आते वो भी लस्त हो चुका था जैसे वो बुक स्टोर के गेट पर वापस पहुंचा वो भी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा जमीन पर गिरते हुए जतिन बड़बड़ाते हुए कुछ कह रहा था अंदर अंदर कोई जहरीली गैस है वहां वहां वहां मत इतना कहकर जतिन बेहोश हो गया विक्रांत ने तुरंत ही बाकी के खड़े इन्वेस्टिगेटर्स को इशारा करते हुए कहा इन लोगों को साइड में ले जाओ और फटाफट स्टेशन कॉल करके बैकअप फोर्स को बुलाओ तब तक मैं अंदर देख कर आता हूँ विक्रांत के कहते इन्वेस्टिगेटर्स काम में लग गए विक्रांत अब तक समझ चुके थे कि बिना किसी प्रोटेक्शन के अंदर बुक स्टोर में जाना खतरे से खाली नहीं है सो उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए अपने अदृश्य सांस लेने वाले टूल को एक्टिवेट कर लिया विक्रांत को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये सफेद रंग का धुआं किस चीज का है लेकिन ये बात उसे कंफर्म हो गई थी कि भीतर सांस लेने में दिक्कत हो रही है सो बिना किसी टूल के जाने पर उसे भी बेहोशी आ सकती है विक्रांत का ये सांस लेने वाला टूल बहुत काम का है इसकी मदद से वो किसी भी जगह पर सांस ले सकता है ये टूल एक्टिवेट होने के बाद कुछ देर तक विक्रांत को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है इसके एक्टिवेट होने के बाद विक्रांत के शरीर में कोई दूसरी गैस भी नहीं जा सकती है सो अब वो बड़े आराम से इस जहरीली गैस के प्रभाव में बिना आए ही अंदर जा सकता है विक्रांत अब धीरे धीरे बुक स्टोर के भीतर बढ़ने लगा विक्रांत सर अंदर मत जाइए वहाँ कोई जहरीली गैस है बेहोश हो जाएंगे बाहर खड़े एक इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन विक्रांत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा जैसे जैसे वो स्टोर के भीतर दाखिल होता जा रहा था सफेद धुआं भी बढ़ता ही जा रहा था अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था बड़ी मुश्किल से विक्रांत को अंदर का सीन हल्का हल्का दिखाई दे रहा था अभी वो बामुश्किल आठ से दस फीट ही बढ़ा रहा होगा कि उसे जमीन पर दो लोग गिरे दिखाई पड़े इन दोनों का चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा था विक्रांत तुरंत समझ गया कि ये लोग स्पेशल टास्क टीम के हैं यानी भले ही उसकी दुश्मनी स्पेशल टास्क वालों से हो लेकिन ऐसे छोड़कर भला कैसे आगे जा सकता था विक्रांत ने इन दोनों की एक एक टांग अपने हाथ में पकड़कर और फिर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा बाहर संगीता और श्रेयस के बगल में ही इन दोनों को भी विक्रांत ने जाकर लेटा दिया इसके बाद वो फिर से सफेद धुएं को चीरता हुआ अंदर की तरफ जाने लग गया फिर से बाहर खड़े इन्वेस्टिगेटर्स ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की विक्रांत सर रुक जाइए हमने बैकअप फोर्स को कॉल कर दिया है वो लोग आ ही रहे होंगे उनके आने के बाद अंदर जाइए उन्होंने विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन फिर से विक्रांत उन्हें अनसुना करके भीतर की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत को पूरा शक था कि ये जहरीली गैस रोनित बनर्जी नहीं छोड़ी है ताकि वो पुलिस से बचकर भाग सके ऐसे में अगर अभी देरी की गई तो हो सकता है कि वो पुलिस के हाथ से निकल जाए इसीलिए अभी वो किसी भी हालत में नहीं रुक सकता है विक्रांत फटाफट अपना कदम बढ़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लग गया वहां अंदर जाने के बाद उसे एक सीढ़ी दिखाई पड़ी जिस पर एक कैरोसिन का लैंप जल रहा था इस लैंप में से ही वो सफेद रंग का धुआं तेजी से निकल रहा था लेकिन इस वक्त विक्रांत के लिए इस लैंप को बंद करना जरूरी नहीं है बल्कि उसके लिए रोनित को पकड़ना ज्यादा जरूरी है सो वो लैंप के बगल से होते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा दो या तीन सीढ़ी चढ़ने के बाद ही उसे वहां पर दो और लोग बेहोश पड़े मिले ये दोनों भी स्पेशल टास्क टीम के लोग थे विक्रांत उन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा अभी वो आधी सीढ़ी ही चढ़ा था कि उसे वहां पर एक खिड़की नजर आई ये खिड़की खुली हुई थी खिड़की एक संकरी सी गली में खुल रही थी और गली में एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ था इस पेड़ की टहनिया खिड़की को बड़े आराम से छू रही थी विक्रांत ने बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ पेड़ की टहनी पर एक गैस मास्क टंगा हुआ नजर आया अब तो विक्रांत श्योर हो गया कि ये रोनित इसी खिड़की से बाहर निकलकर यहाँ से भागा बाहर भागते हुए ही उसने अपना मास्क यहाँ पेड़ पर छोड़ दिया विक्रांत ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और बाहर खड़े इन्वेस्टिगेटर्स को मैसेज दिया कि फौरन इस बुक स्टोर को चारों तरफ से घेर लो आसपास की गलियों में जाकर देखो अभी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा इसके बाद विक्रांत बुक स्टोर के दूसरे फ्लोर पर गया उसे लगा शायद वहाँ कोई और भी बेहोश न पड़ा हो लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था सो विक्रांत वापस लौटने लगा वापस आते वक्त वो सीढ़ी पर बेहोश पड़े दोनों डिटेक्टिव को भी अपने साथ बाहर ले आया जब विक्रांत बाहर पहुंचा तब तक वहां पर स्टेशन से पहली बैकअप टीम पहुंच चुकी थी पुलिस के सायरन से पूरी गली गूंज रही थी जब बैकअप टीम पहुंची तो वो लोग इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स को एक साथ बेहोशी की हालत में देखकर शॉक्ड रह गए उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को भी बुलवा लिया भले ही ये सब लोग बेहोशी हुए हैं लेकिन फिर भी जहरीली गैस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इनको इलाज की जरूरत थी बाकी के बचे हुए कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को विक्रांत ने आसपास के एरिया में भेजकर रोनित को ढूंढने में लगा दिया इस वक्त विक्रांत बहुत इरिटेट हो रहा था ये लोग सिंपली रोनित को अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे लेकिन पूरा प्लान चौपट हो गया विक्रांत इस बात को लेकर टोटली श्योर था कि स्पेशल टास्क टीम को रोनित के ही मुजरिम होने पर कोई शक नहीं था ये लोग बस रोनित से पूछताछ करने के लिए आए हुए थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रोनित काउंटर अटैक कर सकता है रोनित को शक हो गया कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है और फिर वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया अगर ये स्पेशल टास्क वाले ना पहुंचे होते रोनित की गिरफ्तारी भी आराम से हो जाती और इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स बेहोश भी ना हुए होते तभी तो ये लोग एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम का वेट कर रहे थे ताकि बुक स्टोर के भीतर से आ रहे सफेद धुएं को खत्म किया जा सके क्योंकि उसके बाद ही पुलिस अंदर जा सकती थी लेकिन चूंकि विक्रांत को पता था कि सफेद धुआं उसी कैरोसिन लैंप से आ रहा है सो तो वो अकेले अंदर चला गया और उस कैरोसिन लैंप को लाकर बाहर बालू के एक ढेर पर ले जाकर पटक दिया जिससे थोड़ी ही देर में ये धुआं आना बंद हो गया अब तक यहाँ दूसरी बैकअप टीम पहुंच चुकी थी नैना भी इस टीम के साथ यहाँ पहुंच चुकी थी उसके साथ ही अब एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी थी नैना पहुंचते ही सबसे पहले घायल हुए इन्वेस्टिगेटर्स को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया संगीता की हालत तो थोड़े बहुत ठीक थी लेकिन जतिन और श्रेयस की हालत थोड़ी सीरियस थी सो उन्हें इलाज की ज्यादा जरूरत थी एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर ने बताया कि अगर इन लोगों को जल्द इलाज ना दिया गया तो फिर सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है नैना ने तुरंत ही रोनित की फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस वालों के पास तक भिजवा दिया ताकि किसी भी हालत में रोनित यहाँ से बचकर निकल ना पाए इसके साथ ही नैन ने स्पेशल टास्क टीम के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवा दिया था क्योंकि उन्हीं लोगों की लापरवाही के चलते ये सब हुआ और पुलिस के हाथ से बेहद शातिर मुजरिम बचकर निकल गया वैसे जिस तरह की हरकत रोनित ने की थी और जिस तरह से उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की है उसे देखते हुए अब ये श्योर हो गया है कि बैंक के सीरियल मर्डर केस का दोषी वही है उसी ने ही अब तक छह लोगों की हत्या की है लगभग दस मिनट बाद आसपास के पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस टीम की तरफ से अपडेट आ चुका था किसी ने भी रोनित को भागते हुए नहीं देखा था सो उम्मीद यही थी कि रोनित अभी ज्यादा दूर भाग नहीं गया होगा खैर लगभग पंद्रह मिनट के इंतजार के बाद एंटी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा वैसे विक्रांत ने तो पहले ही अंदर से कैरोसिन लैंप को बाहर फेंक दिया था तो वहां से धुआं आना बंद हो चुका था लेकिन फिर भी एंटी बॉम्ब स्क्वाड ने बुक स्टोर के भीतर जाकर वहां पूरी जांच किया जब सब कुछ क्लियर हो गया तब जाकर उन्होंने पुलिस को अंदर जाने का परमिशन दिया एंटी बॉम्ब स्क्वाड से सेफ्टी का सिग्नल मिलते ही नैना ने इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ देखते हुए कहा चलो फटाफट अंदर चलो सब लोग अगर रोनित ने सुमोना अरोड़ा को किडनैप किया है तो निश्चित रूप से वो अंदर ही होगी फटाफट हमें उसे ढूंढ के निकालना है उसकी जान खतरे में है सभी को इस केस के इम्पोर्टेंस का पता था सो सब लोग तुरंत ही बुक स्टोर की तरफ दौड़ पड़े ये लोग बुक स्टोर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने जा रहे थे विक्रांत भी उनके साथ अंदर जाना चाहता था लेकिन तभी उसका ध्यान रोनित बनर्जी के ऊपर चला गया विक्रांत मन ही मन सोचने लगा ये रोनित अभी कहीं दूर नहीं गया होगा इस साले को पकड़ना जरूरी है इधर ही कहीं छुपा होगा सो विक्रांत ने तुरंत ही पुलिस कार का दरवाजा खोलकर अपने शेरलॉक होम्स को बाहर निकाला और फिर उसे बुक स्टोर के ठीक सामने लेकर आया मेरे शेरलॉक होम्स आज तू तो अपना कबाल दिखा दे विक्रांत इसे लेकर बुक स्टोर के ठीक बगल में बनी हुई संकड़ी गली में घुस गया जहां पर अमरूद का पेड़ लगा हुआ था इसी पेड़ से उतरकर रोनित यहां से भागा था विक्रांत के पीछे पीछे दो पुलिस वाले भी चल पड़े थे वहां पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद शेलॉक होम्स अपनी दुम हिलाता हुआ भौंकने लगा इसके बाद वो इस संकरी गली से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा विक्रांत भी उसके पीछे पीछे चलने लगा विक्रांत को अपने शैलॉक होम्स पर पूरी उम्मीद थी कि वो रोनित को खोज निकालेगा थोड़ी दूर तक भागने के बाद शेलॉक अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था वो वहां पहुंचकर जोर जोर से भौंकने लगा इसके साथ ही वो इधर उधर दौड़ भी रहा था विक्रांत भी हाँपता हुआ वहां पहुंचा और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया हे भगवान इसका क्या करूं मैं दरअसल शेरलॉक होम्स उसे एक गंदे पब्लिक टॉयलेट के पास लेकर आ गया था